पुरजन परिजन प्रजा गोसाये सब सुचि सरस सनेह सगाये राउर बदि भल भव दुख दाहो प्रभु बिनु बाद परम पद लाहो स्वामी सुजान जान सब ही की रुचि लाल सारहन जन जी की प्रणत पाल पाल ही सब काहो देहु दुहूद सिर निबाहो हे गुसाई आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ ही व्यर्थ है हे स्वामी आप सुजान हैं सभी के हृदय की ओर मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो किए विचारु न सोच नाथ कर मोरनाथ दुह मिल के न भीठ हठि मोह यह बड़ दोष दूर कर स्वामी तजि सकोच सिखय अनुगामी भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसे खीर नीर विवरण गति हंसे मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे ज़बरदस्ती ढीठ बना दिया है हे स्वामी इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की दीन बंधु सुन बंधु के बचन दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले तात तुम्हारे मोरी परिजन के चिंता गुरहिन पही घर बन की माथे पर गुरु मुनिमिथलेसो हमहि तुमहि सपने न सो मोर तुम्हार परम पुरुषारथ स्वारथ सुज सुधरम दोहु पितवायसु लोक वेद भल भूप भलाई हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हुकुमग पग पर ही न खाले अस विचार सब सोच बिहाये पालहु अवध अवधि भर जाए देशु कोशु पर जन परिवारो गुरुपद रजहि लाग छु भारो तुम मुनि मातु सचिव सिख माने पाल हो पुहुमि प्रजा रज रजधानी गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता पतन नहीं होता ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक पाल पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है राज सर्वसयत नोये मन माह मनोरथ गोये बंधु सप्रबोध किन्न बहु भाते बिनवधार मन तो सुन शांति भरतशील गुरु सचिव समाजो सकुच सनेह बिबस रघुराजु प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही सादर भरत शेष धर राज राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आधरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत सने हरतन के आकर युग जन जीव जतन के कुल कपाट कर कुशल करम के निमल नयन सेवा सुधरम के भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय रहेते करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता मांगे उदा प्रणाम करे राम लिए उरलाई लोग उचाटे अमर पते कुटिल सर पाए भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया